जैन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक तेईस बुद्ध पुरुष अर्थात जीवित मंदिर मौन का भाग एक प्यारे ओशो एक जैन गुरु थे सोईची जिस दिन से सोईची ने तोफुकू के मंदिर में शिक्षण देना शुरू किया उसी दिन से मंदिर का रूपांतरण हो गया दिन आता दिन जाता रात आती रात जाती लेकिन तोफुकू का मंदिर सदा मौन ही खड़ा रहता मंदिर एक गहन सन्नाटा ही हो गया कहीं से कोई आवाज न उठती थी सोईची ने सूत्रों का पाठ भी बंद करा दिया यहाँ तक कि मंदिर के घंटे भी सदा सोए हुए रहते क्योंकि सोईची के शिष्यों को सिवाय ध्यान के और कुछ नहीं करना था फिर बरसों तक ऐसा ही रहा लोग भूल ही गए कि पड़ोस में मंदिर है और सैकड़ों सन्यासी थे वहाँ आत्मज्ञान के दिए जलते थे और समाधि के फूल खिलते थे और अचानक एक दिन लोगों ने सुना कि मंदिर के घंटे बज रहे हैं और शास्त्रों के सूत्र पढ़े जा रहे हैं लोग भागे मंदिर की तरफ सोईची ने संसार छोड़ दिया था उसके शव पर ही सूत्र पढ़े जा रहे थे घंटे बज रहे थे ओशो इस कथा पर प्रकाश डालने की कृपा करें मौन की महिमा अपार है उससे ज्यादा महिमावान कुछ और नहीं जिसने उसे पा लिया उसे पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता क्योंकि मौन के क्षण में ही पता चलता है तुम परमात्मा हो परमात्मा का अर्थ है जिसे पाने को कुछ भी शेष नहीं जो सब पाया ही हुआ है परमात्मा का अर्थ है जिसे कहीं जाना नहीं जो अपनी मंजिल पर ही विराजमान है परमात्मा का अर्थ है जो भी है वो उससे परम तृप्त है कोई अतृप्ति नहीं कोई चाह नहीं कोई प्यास नहीं कोई क्षुदा नहीं कोई मांग नहीं कोई प्रार्थना नहीं जिस दिन प्रार्थना मिट जाती है उसी दिन तुम परमात्मा हो जाते जिस दिन मांग खो जाती उसी दिन जो भी पाने योग्य जो भी पाया जा सकता है वो तुम्हें मिल गया लेकिन मौन के क्षण में ही यह पता चलता है मौन के बिना तुम अपने से अपरिचित ही रह जाते बहुत से तलों पर इस बात को समझ लो फिर ये कहानी खुल जाएगी जैसे कोई बंद द्वार खुल जाए जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिया जला दे और सब प्रकाशित हो जाए पहली बात बोलते हो तुम जरूरी है क्योंकि दूसरे से संबंधित होने का और कोई उपाय नहीं लेकिन अकेले में जब दूसरा नहीं है तब तुम क्यों बोले चले जाते हो भीतर तुम क्यों बोले चले जाते हो दूसरे से तो बोलना माध्यम है लेकिन स्वयं से बोलना पागलपन एक आदमी रास्ते पे चलता है तो उसके पैर चलते हैं लेकिन तुम बैठे हुए पैरों को हिलाते रहो और तुम रोकने में ही असमर्थ हो जाओ और कोई तुमसे कहे कि अब तुम क्यों पैर हिला रहे हो क्योंकि कहीं तुम जा नहीं रहे जाने के लिए तो पैर चलना जरूरी है लेकिन बैठे बैठे क्यों पैर हिलाते सोते सोते क्यों पैर हिलाते और तुम कहो कि मैं क्या करूं पैर रुकते ही नहीं तो तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है और तुम्हारा नियंत्रण खो गया तुम मालिक नहीं हो लेकिन मन की यही हालत है दूसरे से बोलते हो समझ में आता है लेकिन अपने से क्यों बोलते हो भीतर क्यों बोलते हो अंतरलाप क्यों चलता है और क्या तुम्हारे बस में है कि तुम चाहो मन को रोकना तो रुक जाए जब तुम कहो तब रुक जाए तुम्हारे बस में नहीं मन तुम्हारी सुनेगा नहीं मन मालिक हो गया है तुम उपेक्षित तुम्हारी मालकियत उपेक्षित मन ने सब नियंत्रण ले लिया है तुम्हारा कोई काबू नहीं पागल का और क्या अर्थ होता है पागल का इतना ही अर्थ होता है कि जिसका अपने पर कोई काबू नहीं जो हो रहा है होगा वो उसे बदल नहीं सकता जो नहीं हो रहा है वो नहीं होगा वो उसे कर नहीं सकता है उसकी मालकियत खो गई है इस अर्थ में तो हम सभी पागल हैं मात्राओं के भेद होंगे कम ज्यादा पागल होंगे लेकिन पागल सभी जरूरत है दूसरे से बोलने की भाषा की शब्द की अपने से बोलने के लिए न भाषा की जरूरत है न शब्द की अपने से अगर बोलना हो तो मौन की जरूरत है पदार्थ को जानना हो तो शब्द का उपयोग करना पड़ेगा विज्ञान बिना शब्द के नहीं जी सकता कभी तुमने सोचा सारे पुस्तकालय जल जाएं, सारे शास्त्र नष्ट हो जाएं, तो विज्ञान नष्ट हो जाएगा धर्म नष्ट नहीं होगा क्योंकि धर्म का शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं वे हैं या नहीं है कोई फर्क ना पड़ेगा अगर विज्ञान के सारे शास्त्र जल जाएं, तो तुम आइंस्टीन को पैदा न कर सकोगे आज आइंस्टीन को पैदा होने में फिर कोई पांच हजार साल लगेंगे जब पांच हजार साल तक फिर शास्त्र इकट्ठे होंगे तब कहीं आइंस्टीन फिर से पैदा हो सकेगा लेकिन सारी दुनिया के शास्त्र चल जाए बुद्ध को तुम आज ही पैदा कर सकोगे ये बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग धर्म को परंपरा समझते हैं लेकिन धर्म परंपरा नहीं विज्ञान परंपरा है और लोग धर्म को शास्त्र में आबद्ध समझते हैं धर्म शास्त्र में बिल्कुल आबद्ध नहीं विज्ञान शास्त्र में आबद्ध है इसलिए विज्ञान की शिक्षा हो सकती धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती और तुमने अगर विज्ञान की किताब समझ ली तो और कुछ समझने को नहीं बचता और धर्म की किताब तुम कितनी ही समझ लो सब कुछ समझने को बाकी रहता है पदार्थ को जानना हो तो शब्द साधन है परमात्मा को जानना हो तो शून्य साधन है वहां चुप होकर पहुंचना पड़ेगा वहां बोलते हुए गए कि चुप जाओगे क्योंकि जो बोल रहा है वो अपने ही शब्दों से इतना भरा है वो इस स्थूल से इतना भरा है कि सूक्ष्म कैसे उसकी पकड़ में आएगा बाजार का शोरगुल तुम अपने भीतर लिए चल रहे हो तुम्हारे मंदिर भी बाजार के हिस्से हो गए हैं तुम्हारी मस्जिदें भी बाजार के हिस्से हो गई वे भी दुकानें वहां भी बड़ा शोरगुल है मंदिर तो मौन होना चाहिए वहां तो जाने का अर्थ ही यह होना चाहिए कि तुम बाजार को पीछे छोड़ा है वहां तो सन्नाटा होना चाहिए वहां तो जहां तुम जूते उतारते हो वहीं तुम्हें शब्द भी उतार देने चाहिए मंदिर में शब्द ले जाने का क्या अर्थ और शब्द से भाषा और क्या है कितनी बार तुम एक ही शब्द का उपयोग कर चुके हो उससे ज्यादा गंदा और क्या है जूता भी उतना गंदा नहीं शब्द जितना गंदा हो गया है शब्द का ही उपयोग करते अगर तुम गौर करो तो 300 से ज्यादा शब्द ना पाओगे जिनका तुम दिन रात उपयोग करते हो 300 भी जो बहुत ज्यादा शब्दों का जानकार इसलिए कोई नई भाषा सीखना कठिन नहीं होना चाहिए 300 शब्द तुम ठीक से सीख लो नई भाषा आ जाए क्योंकि 300 से ज्यादा शब्दों का कोई उपयोग ही कहां होता है उन्हीं का तुम दिन रात उपयोग करते रहते हुए बासे हो गए हैं सड़ गए हैं तुम्हारे ओंठों से गुजर गुजर के गंदे हो गए हैं जैसे कोई रुपया बाजार में चलते चलते गंदा हो जाता है घिस जाता है ऐसे ही तुम्हारे शब्द घिस गए हैं चांदी के भी नहीं है वे कागज के नोट बहुत गंदे हो गए हैं इनको लेके तुम मंदिर में प्रवेश करते हो इन्हें तुम मंदिर के बाहर छोड़ जाना तो ही तुम्हारा प्रवेश हुआ तो ही होगा प्रवेश वहां तो तुम मौन होकर जाना इसलिए वस्तुतः जो मौन हो गया वो मंदिर में और जो बोलता रहा वो मंदिर में बैठा हो तो भी दुकान में तुम कहां हो इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भीतर क्या है इससे ही फर्क पड़ता है लेकिन हमारे मंदिर और मस्जिद बाजार के हिस्से हैं मंदिर और मस्जिद तुम्हें नहीं बदल पाए तुमने उन्हें बदल दिया है एक बहुत बड़ा धनपति चाइल्ड बहुत परेशान था अनेक तरह के लोग अनेक तरह की चीजें बेचना चाहते इंश्योरेंस के एजेंट हजार तरह के सेल्समैन रोज उसके दरवाजे पर दस्तक देते एक सेल्समैन महीनों से आता था वो उसे कई दफा धक्के देके निकलवा चुका था लेकिन वो फिर फिर आ जाता था वो चाहता था उसके धंधे का विज्ञापन पत्रों में छापने के लिए आखिर रथ चैन ने कहा कि मैं आज कोई 40 साल से धंधे में हूं और बिना विज्ञापन के तुम देख रहे हो कि मैंने बहुत कमाया और जो भी मैं बनाता हूं वो बिकता है अब मुझे कोई विज्ञापन की जरूरत नहीं विज्ञापन उनके लिए जिनकी चीजें बिकती ना हो तो मैं हजार दफा कह दिया तुम बार बार मत आओ सांझ का वक्त था तभी पास के पहाड़ पर बने चर्च की घंटियां बजी उस विज्ञापन मांगने वाले ने कहा कि सुने क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं ये चर्च कितने साल से है इस पहाड़ पर रथचार्य ने कहा होगा कोई 500 साल पुराना पर उसने कहा ये चर्च अभी भी रोज शाम घंटियां बजाता है खबर देता है कि मैं हूं और आप केवल 40 साल से धंधे में हैं ये 500 साल से धंधे में लेकिन विज्ञापन इसने बंद नहीं किया जिस दिन इसकी घंटियां बंद होंगी लोग जाना बंद हो जाएंगे लोग भूल जाएंगे कि मंदिर है वो और कहते हैं रथ चाइल्ड प्रभावित हुआ और उसने विज्ञापन देना शुरू किया उसको लगा कि भगवान की दुकान के लिए भी विज्ञापन की जरूरत होती घंटा बजाना पड़ता है घंटा बहुत पुराना विज्ञापन है घंटा इसलिए बजता है ताकि तुम्हें खबर रहे कि मंदिर है बुलावा है आओ अगर मंदिर घंटा बजाना बंद कर दे तुम उसे भूल जाते तुम्हारे मंदिर मस्जिद भी बाजार के हिस्से हो गए हैं वो भी बिक्री के नियम मान के चलते हैं लेकिन तुम उनके द्वारा नहीं बदले जा सके हो तुम उनके द्वारा तभी बदले जा सकोगे जब तुम्हें मौन की महिमा समझ में आ जाए तीसरी बात ख्याल में ले लो बच्चा पैदा होता है तब वो मौन होता है फिर मरेगा तब भी मौन हो जाएगा जीवन के इस छोर के पहले मौन जीवन के उस छोर के बाद मौन है मौन से तुम उठते हो मौन में तुम खो जाते हो सब बीच का खेल है जिंदगी का समाज का सभ्यता का दूसरे से संबंध का नाता है लेकिन तुम अपने निपट अकेलेपन में सदा मौन थे जब तुम पैदा हुए तब जब तुम मरोगे तब दूसरे से बातचीत उपयोगी है लेकिन उससे तुम्हारा स्वभाव प्रकट ना होगा स्वभाव तो तुम्हारा तभी प्रकट होगा जब तुम दूसरे को बिल्कुल भूल जाओगे शब्द को भूलने का अर्थ है दूसरा भूल गया शब्द को छोड़ने का अर्थ है समाज छूट गया शब्द को हटाने का अर्थ है सभ्यता हट गई इधर शब्द गया भाषा गई वहां सब जो तुमने सीखा था गया क्योंकि शब्द के बिना तो तुमने कुछ भी नहीं सीखा है सभी सिखावन शब्द पर खुदी है शब्द को छोड़ते ही सब सिखावन छूट जाती है सब लर्निंग चली जाती है सब पांडित्य सब ज्ञान सब चला जाता है तुम रह जाते हो निपट निर्दोष जैसे तुम थे जन्म के पहले और जैसे तुम हो जाओगे मृत्यु के बाद और अगर तुम इसमें एक डुबकी भी लगा लो इस स्रोत में मूल स्रोत में तो फिर तुम हंसोगे तुम कहोगे न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु मैं सदा था और सदा रहूंगा मैं सनातन हूं मैं शाश्वत हूं ये धारा अजस्र बह रही है ये जन्म के पहले भी बहती थी छिपी होगी जैसा नील नदी बहती है इजिप्त में सैकड़ों मील तक जमीन के नीचे बहती दिखाई नहीं पड़ती फिर अचानक प्रकट होती लेकिन प्रकट कोई चीज शून्य से तो नहीं होती जो भी प्रकट होता है वो पहले अप्रकट रहा होगा ऐसे ही एक दिन अचानक तुम्हारा जन्म होता है जो नदी भूगर्भ में थी छिपी थी वो प्रकट हो गई फिर एक दिन अचानक तुम भूगर्भ में खो जाते हो फिर मौत तुम्हें समा लेती जो जन्म के पहले था जो मौत के बाद था उसको ही पहचानो वही धर्म है वही ध्यान है लेकिन तुम अपना सारा समय समाज में खोए दे रहे हो तुम अपनी सारी ऊर्जा शब्द में चुकाए डाल रहे हो तुम बोल बोल के नष्ट हुए जा रहे हो सोच सोच के नष्ट हुए जा रहे हो ध्यान से बड़ा समाज विरोधी और कोई तत्व नहीं क्योंकि ध्यान का अर्थ है पूरा समाज तुमने छोड़ा शब्द छोड़ा समाज गया तुम बाहर उतर जाते हो शब्द से उतर जाने की कला समाज के बाहर उतर जाने की कला है कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं हिमालय तो वे जाते हैं जो ना समझ जो इस कला को नहीं जानते वो हिमालय में भी उतर ना पाएंगे तुम्हें कभी पता है तुम अगर अकेले छोड़ दिए जाओ तो पहले धीरे धीरे अपने से बात करोगे फिर जोर जोर से बात करने लगोगे फिर तुम पौधों से पहाड़ों से बात करने लगोगे कोई भी ना मिलेगा तो तुम परमात्मा से बातचीत शुरू कर दोगे तुम ही बोलोगे तुम ही जवाब दोगे तुम दूसरे को कल्पना से निर्मित कर लोगे हिमालय पे जाने से कुछ भी ना होगा जाते ही वे हैं जो नहीं जानते जिन्हें छोटी सी कला आ गई शब्द की नाव से उतर जाने की कला वे ठीक यही बीच बाजार में जब चाहें तब हिमालय को खोल ले सकते हैं जैसे ही वो शब्द का द्वार बंद करते हैं मौन हो जाते हैं बाहर हो गए संसार के हर स्थान से संसार के बाहर होने का द्वार है कुंजी चाहिए वो कुंजी मौन है चुप होना इस जगत में सबसे बड़ी कला है से सारी कलाएं शब्द पर निर्भर हैं बच्चा पैदा होता है तो हम उसे शब्द सिखाते हैं इसलिए जो बच्चा जितने जल्दी शब्द बोलता है मां बाप उतने ही ज्यादा प्रसन्न होते और ध्यान रहे जो बच्चा जितने जल्दी शब्द बोलता है उतना ही बुद्धिमान सिद्ध होता है क्योंकि सारी कला शब्द से ही सीखनी जो बच्चा जितनी देर से बोलेगा उतना ही बुद्धू सिद्ध होगा अगर पांच सात साल आठ दस साल तक बिना बोला रह गया तो फिर आशा खो जाती जितनी जल्दी बच्चा बोलता है उतनी खबर देता है कि वो प्रतिभाशाली है और तुम्हें ख्याल है समाज में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली कौन लोग हैं वे ही जो शब्द के कुशल कारीगर वे चाहे नेता हों चाहे वैज्ञानिक हों चाहे गुरु हों जो शब्द के जितने कुशल कारीगर जो शब्द को जितने ढंग से उपयोग कर सकते हैं वे ही तुम्हारी दुनिया में महान है तुम्हारा सारा खेल शब्दों का है जो यहां अच्छा बोल सकता है ढंग से बात कर सकता है वो हर तरह की चीज बेच पाता है बोलने की कला जैसे संसार की सारी कलाओं का आधार लेखक हैं कवि हैं संगीतज्ञ हैं सभी शब्द ध्वनि उसका उपयोग कर रहे हैं यहां अगर कोई बिल्कुल ही चुप रह जाए तो तुम समझोगे कि जड़ तुम समझोगे मूड कि जल्दी से जल्दी मां बाप कोशिश करते हैं कि बच्चा सीखे पहले बच्चे सात साल में स्कूल जाते थे अब वो ढाई साल तीन साल के हुए कि मंटेसरी में उनको प्रवेश मिल जाता और रूस में वो फिक्र कर रहे हैं कि बच्चे को गर्भ में कैसे शिक्षण दिया जा सके कुछ चीजें उसको गर्भ में सिखाई जा सकती कुछ कंडीशनिंग की जा सकती है गर्भ में भी और वो जल्दी उपाय खोज लेंगे उनके परिणाम आ रहे हैं उनके प्रयोग सफल हो रहे हैं कि बहुत सी बातें बच्चे को गर्भ में ही सिखाई जा सकती उनके लिए क्यों रुकना सिखाने की जल्दी है क्या सिखाते हैं हम हम शब्द सिखाते हैं फिर शब्द के माध्यम से सब कुछ सिखाते हैं लेकिन ध्यान रहे एक चीज शब्द के माध्यम से नहीं सिखा सकते वो स्वभाव है वो अस्तित्व की गहराई है वो शब्द के पहले है उसको शब्द से सिखाने का कोई मार्ग नहीं उसे अगर सीखना हो तो जो भी तुमने सीखा है उसे भूलना सीखना पड़ेगा इसलिए रमन बार बार दोहराते कि सारे धर्म की कला अनलर्निंग है तो एक तरफ संसार की सारी कलाएं उनको हम लर्निंग कहें सीखना और उन सब के मुकाबले दूसरे तराजू पर धर्म की कला है उसे हम अनलर्निंग कहें भूलना स्मृति उपयोगी है संसार में विस्मृति उपयोगी है धर्म में और ध्यान रहे तुम्हारी स्मृति जितनी संसार से भर जाएगी उतना ही परमात्मा विस्मरण हो जाएगा और जितना तुम संसार को विस्मरण करोगे उतना ही परमात्मा का स्मरण आएगा क्योंकि जगह खाली होगी जो लोग भी ईश्वर को याद करना चाहते हैं राम राम दोहराने से कुछ ना होगा उन्हें संसार को भूलना सीखना पड़ेगा पहले जगह खाली करो कहां है वो रिक्त स्थान जहां परमात्मा को निमंत्रण दिया जा सके कहां है तुम्हारे घर में अतिथि ग्रह जहां उसे ठहराया जा सके तुम भरे हो बुरी तरह भरे हो और कचरे से भरे हो इस कचरे को हटाना ही होगा इस कचरे को एक बार भी तुम हटा दोगे तो तुम बहुत हंसोगे कि जिसको हमने ज्ञान समझ के इकट्ठा किया था वो कूड़ा था उसका कोई भी मूल्य नहीं था इसलिए उपनिषदों ने शब्द से जो सीखा जा सके उसे अविद्या कहा है बड़े अद्भुत लोग थे उसको विद्या नहीं कहा उसको अविद्या कहा है जो शब्द से सीखा जा सके तो तुमने जो भी सीखा है अब तक वो सभी अविद्या है और तुम्हारे विश्वविद्यालय अविद्यालय विद्यालय नहीं क्योंकि वहां सभी कुछ शब्द से सिखाया जा रहा उद्दालक का बेटा श्वेत केतु लौटा सीख कर गुरु के घर से तो उसके बाप ने पूछा तूने वो सीखा या नहीं जिसे सीखने से सब जान लिया जाता है उसके बेटे ने कहा वो तो कुछ गुरु ने बात नहीं की वैसे मैं सब सीख के आ गया हूं जो भी सीखा जा सकता है बाप ने कहा तू वापस लौट जा असली बात तो चूक ही गई असली बात उसको सिखाया नहीं जिसको सीखने से सब सीख लिया जाता है मगर वो सीखना शब्द से हो ही नहीं सकता तो जब श्वेत के तू वापस गया और उसने कहा कि मेरा पिता तो बहुत दुखी और नाराज हुआ है और उसने कहा ये क्या कचरा लेके तू आ गया ये तो अविद्या है और ये लड़का वेद में पारंगत होके गया था जो भी जाना जा सकता था सब कंठस्थ कर लिया था गुरु ने कहा तेरे पिता ठीक कहते हैं लेकिन अब अगर तुझे वो सीखना है जो सीखने से सब सीख लिया जाता तो वो मेरे बस के बाहर है उसे कोई नहीं सिखा सकता वो उसे गऊ के साथ जंगल में भेज देता है कि तू वर्षों तक वहां गऊ जैसा हो जा मौन बोलना मत सोचना मत और सब करना सोचना बोलना दो काम मत करना उठना बैठना भूख लगे भोजन करना प्यास लगे पानी पीना मगर भीतर शब्द को निर्मित मत होने देना प्यास लगे तो भीतर शब्द मत बनाना कि मुझे प्यास लगी उठना जाना सरोवर के तट पर पानी पी लेना पानी पी ले और प्यास बुझ जाए तो भीतर शब्द को मत बनाना कि प्यास बुझ गई प्यास लगे प्यास का बुझना हो लेकिन शब्द को बीच में मत लाना सुबह सूरज निकले तो देखना लेकिन मत कहना कि सुबह हुआ रात सूरज ढल जाए तो देखना मगर मत कहना कि रात हो गई कहना मत बोलना मत सोचना मत गाय जैसा हो जाना वर्षों तक श्वेत केतु गायों के साथ रहा धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे शब्द गिरते गए उनकी कोई जरूरत न थी गऊओं से बोलने का कोई अर्थ भी न था सारा पांडित्य जो सीखा था वो जैसे झड़ गया स्मृति संसार की शब्द की मिट गई वो मौन हो गया जब वो वापस लौटा वर्षों के बाद तो गुरु ने कहा अब आने की कोई जरूरत नहीं स्वित केतु दूर से ही मैं देख रहा हूं कि तूने उसे जान लिया जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है अब तू अपने घर लौट जा गुरु के चरण छू के बिना कुछ बोले स्वेत केतु धन्यवाद देने के लिए भी नहीं बोला चरण छूना बड़ा सार्थक है वो बिना बोले कुछ कहना है इसलिए भारत ने उस कला को खोजा भारत के बाहर चरण छूने की कोई बात नहीं और पश्चिम के लोग समझ ही नहीं पाते कि चरण छूने का राज क्या होगा वो बिना बोले कुछ कहना है धन्यवाद देना है लेकिन शब्द को नहीं बनाना है क्योंकि गुरु को शब्द से धन्यवाद अगर दिया जा सकता है तो शब्द बना लेते जिससे निशब्द सीखा है उसको शब्द में धन्यवाद कैसे देंगे इसलिए झुक के बिना कुछ कहे धन्यवाद देके श्वेत केतु चल पड़ा जब वो अपने घर के करीब पहुंचने लगा और उसके पिता ने खिड़की से देखा तो उसके पिता ने कहा कि अरे ये तो उस एक को जान के लौट रहा है इसकी गरिमा इसका प्रकाश वो दूसरी खिड़की से कुंद के पिता भाग गया उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जाता हूं क्योंकि अभी मुझे इस एक का खुद ही पता नहीं चला और यह उचित ना होगा कि श्वेत केतु आके मुझ अज्ञानी के पैर छुए तो अब मैं लौटूंगा तब जब मैं भी इस एक को जान लू वो तो जो मैंने श्वेत केतु को कहा था कि एक को जान के लौट जिसको जानने से सब जान लिया जाता है वो भी मैंने शास्त्र में पढ़ा था तो उसे भी मैं जानता नहीं हूं और मैंने सोचा नहीं था कि लड़का कर गुजरेगा ये असंभव को संभव करके चला आ रहा अब ये उचित ना होगा अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं भी उस एक को जान लू अब हम इस कहानी को इस छोटी सी कहानी को समझने की कोशिश करें ये मौन की महिमा है एक जैन गुरु थे सोईची जिस दिन से सोईची ने तो फुकू के मंदिर में शिक्षण देना शुरू किया उसी दिन से उस मंदिर का रूपांतरण हो गया तुम मंदिर में जाते हो तो भी मंदिर का रूपांतरण होता है क्योंकि मंदिर तुम्हारा गुणधर्म ले लेता है क्योंकि मंदिर तो एक ग्राहकता है उसी मंदिर में रावण प्रविष्ट करता है तब वो मंदिर रावण जैसा हो जाता है उसी मंदिर में राम प्रवेश करते हैं तब वो मंदिर राम जैसा हो जाता है मंदिर तो एक ग्राहकता है एक पैसिविटी अगर तुम ठीक से समझ लो तो तुम जहां हो वही मंदिर बना सकते हो तब पत्थर की दीवारों के मंदिर का कोई अर्थ नहीं क्योंकि तब तुम जानते हो तुम्हारा होना ही तुम्हें घेरे हुए है और अगर तुम्हारा होना विकृत है तो तुम मंदिर में जाके क्या करोगे तुम मंदिर को विकृत करोगे और क्या करोगे अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारी बीमारी मंदिर को छुएगी और क्या होगा और अगर तुम दुख से भरे हो तो मंदिर विषाद से डूब जाएगा और क्या होगा मंदिर तुम्हें नहीं बदलता तुम ही मंदिर को बदलते हो और जब सोई चीज जैसा ज्ञानी किसी मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर सोची जैसा हो जाता है रूपांतरण शुरू हो जाता है ये जो मंदिर खड़े हैं सारी पृथ्वी पर ये जो तीर्थ हैं मक्का है मदीना है काशी है ये जो जेरूसलम और सारी जमीन पर मंदिरों का इतना बड़ा विस्तार है ये हमने क्यों बचा के रखे हैं इनके बचाने का कारण है कभी ना कभी इन मंदिरों में सोची जैसे आदमी ने प्रवेश किया और उसके साथ मंदिर की जो महिमा प्रकट हुई थी वो हमसे भूले नहीं भूले इसलिए हमने इनको बचाया हालांकि अब वो कहानी रह गई क्योंकि सोए चीजें से लोग रोज नहीं पाए जा सकते जिस दिन मोहम्मद मदीना में थे या मक्का में थे उस दिन जो गरिमा थी वो भूलती नहीं इसलिए मुसलमान के जीवन कृत्यों में एक बार हर मुसलमान को हज करनी चाहिए एक बार हर मुसलमान को उस जगह पहुंच जाना चाहिए जिसमें कभी मोहम्मद का गौरव जाना शायद वो जगह अब भी कुछ गुनगुनाती हो शायद उस जगह की हवाएं और पत्थर अभी भी कुछ कहें वो सिर्फ याददाश्त है लेकिन मोहम्मद जिस दिन प्रवेश किए काबा में उस दिन काबा बदल गया उस दिन काबा का रूपांतरण हो गया पत्थरों की क्या बिसात है जो तुम्हें बदल दे तुम ही बदलोगे और तुम अगर भरोसा करते हो कि पत्थर तुम्हें बदलेंगे तो तुम पत्थरों से गए बीते हो दीवाने तुम्हें बदलेंगी कि मंदिर का घंटनाद तुम्हें बदलेगा कि मंदिर में प्रतिष्ठित पत्थर की प्रतिमाएं तुम्हें बदलेंगी तो तुम हो क्या तुम पत्थर कंकड़ हो क्या हो वे तुम्हें नहीं बदल सकते तुम ही उन्हें बदलोगे तुम अपने मंदिर को अपने साथ लिए चलते हो तुम्हारा मंदिर तुम्हारे होने का ढंग इसलिए जब कभी सोई चीजें से आदमी किसी मंदिर में प्रवेश कर जाता तो मंदिर का सौभाग्य मंदिर बदल गया उसका रूपांतरण हो गया उसी दिन से दिन आता दिन जाता रात आती रात जाती लेकिन तोफुकू का मंदिर सदा मौन ही खड़ा रहता सोची मंदिर पर छा गया मंदिर की पत्थर की दीवारें सोची को नहीं बदलेंगी सोची मंदिर को बदला और जैसा सोची चुप था मौन था ऐसा ही मंदिर मौन रहने लगा सोची का गुणधर्म मंदिर पे छा गया वो मंदिर सोची का ही विस्तार हो गया दिन आता दिन जाता रात आती रात जाती लेकिन तोफुकू का मंदिर सदा मौन ही खड़ा रहता वह मंदिर एक गहन सन्नाटा हो गया कहीं से कोई आवाज न उठती सोची ने सूत्रों का पाठ भी बंद करा दिया मंदिर के घंटे भी सदा सोए रहते क्योंकि सोची के शिष्यों को सिवाय ध्यान के और कुछ भी नहीं करना था ऐसा उल्लेख है कि बुद्ध एक राजधानी के करीब आए उस राजधानी का सम्राट था अजात शत्रु उसके मंत्रियों ने अजात शत्रु को कहा कि बुद्ध मिलने जैसे हैं नाम तो उसका था अजात शत्रु कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है लेकिन यह अजा अच्छा, शत्रु शत्रुओं से डरता बहुत था उसने कहा बुद्ध आए हैं लेकिन क्या वहां जाना सुरक्षित मंत्रियों ने कहा वहां क्या खतरा है अजा शत्रु ने कहा लेकिन फौजी टुकड़ी मेरे साथ चलनी चाहिए मंत्रियों ने कहा कि वो बेहुदा लगेगा बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास आप फौजी टुकड़ी को लेकर जाएंगे तलवारें लेके वो अच्छा नहीं लगेगा डर कुछ भी नहीं है बुद्ध आप पर हमला नहीं करेंगे अजा अच्छा, शत्रु ने कहा तब ठीक है पर हम रास्ते में तो साथ ले चले तो रास्ते में उसकी फौजी टुकड़ी गई फिर मंत्रियों ने उसे बगीचे के बाहर जहां बुद्ध ठहरे थे फौजी टुकड़ी को छोड़ देने को कहा डरता भयभीत क्योंकि कुछ खतरा ना हो वो छोड़ के किसी भांति मंत्रियों के साथ चला थोड़े ही दूर जाके वो ठिटक के खड़ा हो गया उसने कहा कि मुझे संदेह होता है क्योंकि तुम कहते थे दस हजार भिक्षु बुद्ध के साथ है और यहां सन्नाटा है तुम मुझे किसी उपद्रव में तो नहीं ले जा रहे तुम्हारा कोई षड्यंत्र तो नहीं और तुम कहते हो ये जो वृक्षों की कथा है बस इसके ही पार दस हजार भिक्षु ठहरे हुए दस हजार जहां दस हजार आदमी हो वहां शोरगुल होगा मंत्री हंसने लगे उन्होंने कहा आप अकारण चिंतित हो रहे हैं ये दस हजार आदमी नहीं है आदमी तो यहां एक भी नहीं है ये भिक्षु है ध्यान ही इनका एकमात्र कर्म है उठते हैं बैठते हैं तो चुप्पी साधते हैं ये कोई बाजार नहीं है गया भयभीत डरता हुआ जाके बहुत चकित हुआ उसे भरोसा ही ना आया कि दस हजार लोग उन वृक्षों के नीचे बैठे और सन्नाटा है जैसे एक भी आदमी ना हो जैसे ही सन्नाटा होता है तुम्हारे भीतर तुम्हारी आदमियत खो जाती है दिव्यता प्रकट होती है क्योंकि आदमी तुम अपनी भाषा के कारण इस परिभाषा को ध्यान में रख लेना पशु पशु हैं क्योंकि बोल नहीं सकते आदमी आदमी है क्योंकि बोल सकते हैं देवता देवता है क्योंकि बोलने के पार चला गया बीच में आदमी है पशुओं और परमात्मा के जहां भाषा की कड़ी और आदमियत को पार करना है तो ही तुम्हारी दिव्यता का अवतरण हो सोईची जैसे ही मंदिर में आया मंदिर का रूपांतरण शुरू हो गया वहां सन्नाटा रहने लगा मौन खड़ा रहता मंदिर घंटे भी बजाने बंद कर दिए गए क्योंकि जिसे आना है उसे अपने आप आना चाहिए निमंत्रण की क्या जरूरत है और जो निमंत्रण से आएगा वो आएगा ही कैसे ये फिर कोई घर तो नहीं जहां निमंत्रण दिया जाए ये मंदिर है यहां जिसको आने की प्यास जग गई हो वही आएगा और अगर सरोवर घंटे नहीं बजाते कि प्यासे आए तो मंदिर क्यों बजाए सोचीने का बंद कर दो घंटे हमें उन्हें नहीं बुलाना है जो अभी आने को तैयार नहीं और जिन्हें आना है वो आ जाएंगे वे खोजते हुए आ जाएंगे और उन लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेना जिनको नहीं आना था बड़ी खतरनाक है क्योंकि उनके बीच में वे लोग भी खो जाते हैं जिनके कि आने का क्षण आ गया था उस भीड़ में वे भी दब जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं तो मंदिर के घंटे बंद कर दिए गए सूत्रों का पाठ तक बंद करवा दिया अब बुद्ध के वचन वहां न पढ़े जाते रोज सुबह से जो सूत्रों का नियमित पाठ था वो भी बंद हो गया वो मंदिर पहली दफा मंदिर बना शास्त्र भी छोड़ दिया गया सोची ने सूत्रों का पाठ भी बंद करा दिया लोगों ने कहा होगा जरूर कि नास्तिक है इस जगत पर जो परम आस्तिक पैदा हुए हैं वो सभी समझे गए हैं कि नास्तिक है यहां छोटे मोटे आस्तिकों को ही लोग आस्तिक समझ पाते यहां बड़ा आस्तिक तो नास्तिक जैसा मालूम पड़ता है सोची ने पाठ बंद कर दिया सूत्रों का तुम सोचो मंदिर के ट्रस्टियों का कैसा रुक रहा होगा ये मंदिर भ्रष्ट हो गया इस मंदिर में ना पूजा होती न प्रार्थना होती सब कृत्य बंद हो गया लोगों ने कहा होगा सन्यासी खाली बैठे रहते हैं निठल्ले बैठे रहते कुछ भी करते नहीं कुछ काम तो चाहिए सारा कर्म का जाल कोलाहल सोची ने बंद कर दिया जेन की मौलिक प्रक्रिया है कि तुम चुप बैठना सीख जाओ प्लीज जेन हर साधक को कम से कम छह घंटे खाली बैठने की साधना देता है कम से कम छह घंटे सिर्फ बैठे रहो कुछ भी मत करो यह कठिन से कठिन कृत्य है इस जगत में कुछ करने में तुम्हें तकलीफ नहीं होती कुछ करने के तुम आदि हो आदतें यांत्रिक हैं उन्हें करने के लिए ना तो सोचना पड़ता ना विचारना पड़ता आदतें तुमसे काम करवाती रहती हैं आदतें इतनी गहन हैं कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं तुम्हारे बिना भी आदतें चलती रहती तुमने कई बार अनुभव किया होगा कि कब तुम पैकेट से सिगरेट लगा के मुंह में लगा लेते हो कब तुम जला लेते हो कब तुम धुआं खींचने छोड़ने लगते हो जैसे तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं ये आदत ही कर लेती अचानक तुम चौंकते हो कि तुम धूम्रपान कर रहे हो तुम कार चलाते हो तुम कब बाएं घूम जाते हो कब दाएं घूम जाते हो इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं आदतों का जाल तुमसे कराया जाता है